और वही आसमानों में भी मबूद है और ज़मीन में भी मबूद है और वही कमाल हमत वाला सब कुछ जानने वाला है